ओ व्यक्ति अपने जीवन का ये निर्णय करते हैं कि मुझे मुक्ति के मार्ग पर चलना है और इसकी तीव्रता रखते हुए खिड़की बंद कर करो और थोड़ा पंखा चला लीजिए धीमे धीमे नहीं तो बहुत थोड़े से चला ना इसको भी धीमा कर दो जो व्यक्ति मुक्ति का लक्ष्य बनाता है और तीव्रता से शीघ्रता से चलना चाहता है तो वो साथ में ये उपाय प्राय पाता है कि मैं गृहस्थ में नहीं जाऊं ब्रह्मचारी रहते हुए अकेले रहते हुए और साधना आदि को अच्छी तरह करते हुए परोपकार को और अधिक करते हुए जीवन को चलाऊं ऐसा विश्वास वो क्यों करता है या उसे विश्वास क्यों करना चाहिए गृहस्थ भी हमारी वैदिक व्यवस्था का एक भाग है आश्रम व्यवस्था का एक भाग है और वो भी मुक्ति का साधन है वो मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है यदि वैदिक रीति से उसका पालन अनुष्ठान किया जाए और अवैधिक रीति से जो पालन होता है वो तो गृहस्थ ही क्या ब्रह्मचर्य आश्रम हो चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो चाहे सन्यासी हो वो भी यदि विधि विधान के विपरीत मनमाने ढंग से चलता है तो वो भी मुक्ति में बाधक होगा इसलिए कोई आश्रम मुक्ति में बाधक है स्वरूपता शुद्ध अवस्था में भी ऐसा किसी के लिए भी नहीं कह सकते गृहस्थ के लिए भी विशेष रूप से लेकिन फिर भी हम ये विश्वास क्यों करते हैं क्यों मानते हैं कि गृहस्थ में न जा करके मैं इसी मार्ग पर चलूंगा वैराग्य के मार्ग पर चलूंगा तो कुछ विचार तो करते हैं कुछ शास्त्रों से पता लगता है दिशा निर्देश मिलते हैं तो दोनों मार्गों की व्यक्ति तुलना करता है कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है तो जो अकेले रहते हैं वो गृहस्थ में दोष देखते हैं भोग मार्ग में दोष देखते हैं इसलिए वो वैराग्य के मार्ग पर या अकेले रहने के मार्ग पर चलते हैं तो वहां ऐसा क्या कष्ट दिखाई देता है हमें और इधर कौन सा कष्ट दिखाई नहीं देता जिन्होंने ये निश्चय कर भी लिया है कि मुझे गृहस्थ में नहीं जाना है कुछ सोच के ही किया होगा वर्षों से बार बार विचारते भी होंगे जान को भी वैसा ही बनाते होंगे तो ऐसा क्या है वहां बाधक है और यहां साधक है वहां कुछ कष्ट दिखाई देते हैं या बहुत कष्ट दिखाई देते हैं तो इस मार्ग में कोई कष्ट दिखाई नहीं देता इसमें भी कष्ट होता है लेकिन भर्तृहरि जी ने लिखा वैराग्यम एव अभय सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यम एवं तो हमने वैराग्य का रास्ता अपना लिया गृहस्थ में नहीं गए तो उस वैराग्य से क्या हम अभय हो गए या हो जाएंगे वैराग्य के कारण कौन से भय से हम छूटेंगे उन्होंने बहुत सारे भय बताए पहले रोग का भय वो कब है भोग होने पर भोगे रोग भयम तो क्या हम रोग से भयभीत नहीं होते इस मार्ग में रोग क्या नहीं आ सकता या नहीं आता है तो कोई कहे कि भाई इस मार्ग में आकर के भी अगर भोग मार्ग ही चल रहा है तो रोग आ सकता है भोग में रोग का भय है लेकिन क्या हम ये विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि जहां भोग नहीं है मात्र उपभोग है वहां रोग का भय ना हो भोग में तो रोग का भय है लेकिन उपभोग में उपयोग में उपयोग या उपभोग वाला भोग तो सभी को करना होगा शरीर चलाना है वहां जो भोगे रोग भयम कहा उसका तात्पर्य क्या है भोगों का अति योग करना अधिक भोग भोगना विकृत ढंग से भोगना मिथ्या योग करना वो रोगों का कारण है तो वो अगर हम हटा दें अति योग हीन योग मिथ्या योग अयोग चाहे अयोग भी कह लीजिए नहीं तो अयोग को छोड़ दीजिए अभी समयोग कर रहे हैं जितना उचित है उतना खा पी रहे हैं सावधानी भी रख रहे हैं तो भी क्या ऐसा कह सकते हैं कि रोग नहीं आएगा तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसको रोग ना हो कुछ ना कुछ रोग तो होंगे छोटा मोटा और नहीं तो वृद्धावस्था का तो रोग है ही सबको जरा भी एक बड़ा रोग है वो तो आना ही है सबको तो वैराग्य में अभय है इस अध्यात्म के मार्ग पर अभय है इसमें अभय है बाकी में भय है तो जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनको अभय हो जाता है जिन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया कुछ वर्ष हो गए क्या निर्भयता आ जाती है अच्छा जो गृहस्थ के मार्ग को चुनते हैं या विचार कर रखा है गृहस्थ में जाना है या चले गए हैं वो इस मार्ग में क्यों नहीं आते उन्हें किधर निर्भयता दिखाई देती है उन्हें परिवार में निर्भयता दिखाई देती है अकेले में तो भय लगता है सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है वृद्धावस्था में क्या होगा गृहस्थ में गए तो बच्चे होंगे पोते पोती होंगे पुत्र वधु होगी और कई जने हम मिलके रहेंगे तो रोग होने पर और कुछ आवश्यकता होने पर अशक्त होने पर सहयोग मिलता है गृहस्थ में जाने का और एकाकी रहने का जो व्यक्ति निर्णय करते हैं उसमें ये एक प्रश्न बहुत व्यापक होता है अधिकांश के मन में आता है कि भविष्य में क्या होगा किसमें इस मार्ग पे चले तो अकेले रहे तो क्या होगा भविष्य में उधर अपना घर दिखाई देता है भले ही कितना छोटा सा है लेकिन अपना घर दिखाई देता है कि ये घर है मेरा रहने का ठिकाना है इस घर से मेरे को कोई नहीं निकालेगा एक निश्चिंतता है एक विश्वास है लेकिन इस मार्ग में जिनका आश्रय बन चुका है उन तक तो ठीक है नहीं तो अधिकांश को संशय रहता है अपना घर तो है नहीं अपना आश्रम तो है नहीं कब कौन निकाल दे कब कहा जाना पड़े कहा अनुकूलता मिलती है नहीं मिलती है जिस आश्रम में रह रहे हैं जिस गुरुकुल में रह रहे हैं वहां की जो दिनचर्या या नियम अनुशासन है वो अनुकूल होगा नहीं होगा अपने घर में तो हमारे को प्राय स्वतंत्रता ही रहती है कुछ विपरीत होता है तो अनुकूलता बना लेते हैं हम वहां ऐसी बाध्यता नहीं होती लेकिन दूसरी जगह तो बाध्यता होती है तो जो व्यक्ति गृहस्थ का मार्ग चुन रहा है वो निर्भयता कहां देख रहा है वो गृहस्थ में निर्भयता देख रहा है वो अकेले में भय देख रहा है और जो अकेले में आते भी हैं ये निश्चय करके कि नहीं मुक्ति ही पानी है और इसी में पूरी तरह लगना है उनको भी बहुत सारे भय वर्षों तक बने रहते हैं ऊपर से उन्होंने निर्णय कर लिया है लेकिन बहुतों के मन में ये संशय आशंका अविश्वास रहता है कि भविष्य में क्या होगा धन की दृष्टि से सेवा की दृष्टि से स्थान की दृष्टि से रहने की दृष्टि से क्या होगा तो कौन से मार्ग में अभय है कौन से मार्ग में विश्वास है इस मार्ग में जो आते हैं उनको प्राय ये मन में रहेगा कि यहां तो कोई नहीं है मेरा वहां तो मेरे अपने हैं भले ही विरोध हो कुछ भी हो लेकिन फिर भी एक दूसरे का सहयोग करते ही हैं कहते हैं आड़े वक्त पे काम आते हैं और एकदम नहीं निकाल सकते लोक लाज आदि भी बहुत होते हैं वहां पर अपने बच्चों को निकाल दिया अपने पति को निकाल दिया पत्नी को निकाल दिया माता पिता को नहीं रखा उनकी सेवा नहीं की आसपास वाले बोलने लग जाते हैं नाते रिश्तेदार मित्र बंधु बोलने लग जाते हैं वो एक सामाजिक दबाव प्रभाव बहुत रहता है कि अगर ये बच्चे नहीं भी माने तो लोक लाश से कुछ तो करेंगे ये भले ही प्रेम स्नेह से ना रखे लेकिन रोटी और कपड़ा और निवास छत तो मिलेगी इतना तो कम से कम होगा ये विश्वास वहां रहता है उनको इसलिए अधिकतर उधर ही जाते हैं और इधर आए तो अविश्वास ही अविश्वास है किस पर विश्वास है यहां पर अधिकतर अपने पर विश्वास लेकर के चलते हैं तो प्राय जब युवावस्था में या किशोरावस्था में ये निर्णय लेते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है सामर्थ्य रहती है कर लूंगा मैं या कर लूंगी अपने पे विश्वास अधिक रहता है और अपने विश्वास पे ही इस मार्ग में अधिक चला जा सकता है स्थिर रह सकते हैं तो गृहस्थियों को वहां निर्भयता क्यों प्रतीत होती है क्योंकि उन्हें अनेक चीजों का वहां विश्वास होता है ये चीज यहां हो जाएगी लेकिन बाहर उनको ये विश्वास नहीं होता कि ये चीजें वहां हो जाएंगी तो निर्भयता कहां होती है जहां विश्वास होता है विश्वास नहीं है तो निर्भयता नहीं होगी निर्भयता नहीं होगी अविश्वास आया और भय प्रारंभ हो गया तो यहां इस मार्ग में हमारा किस पर विश्वास है जिससे हमें निर्भयता प्राप्त होगी जिससे हमारा प्रेम है विश्वास है वहां निर्भयता है इस नियम में कहीं चूक नहीं है अट, अटल है ये जहां जहां निर्भयता है वहां वहां विश्वास अवश्य होगा ये सूत्र हम उन गृहस्थियों से या उस मार्ग पे जो चल रहे हैं उससे देख सकते हैं हम भी बचपन में गृहस्थ में रहे हैं यानी बच्चे के रूप में गृहस्थियों के घर में ही तो रहे हैं और भी देखते हैं तो ये व्यापक सूत्र हमें वहां दिखाई दिया अब इधर आके या तो हम अपना ऐसा आश्रम बना लें ऐसे व्यक्ति मित्र आदि बन जाएं तो भी हम निर्भय हो जाते हैं लेकिन यहां भी फिर वही प्रक्रिया होती है कि हम कुछ अपने मित्र होते हैं सहयोगी होते हैं उनसे हमारे अच्छे संपर्क होते हैं मित्रता होती है तो भी एक तरह का संबंध बन गया गृहस्थ वाला संबंध या जन्मतः जो संबंध है वो तो ईश्वर कृत है स्वभावतः ही वो हमें प्राप्त है और इधर हम प्रयत्न पूर्वक कुछ संबंध बना लें और कुछ व्यक्तियों के साथ हम रह सकते हैं लेकिन यहां भी हमें किसी पर विश्वास तो करना होगा तब निर्भयता आती है इसके साथ एक तथ्य और हमें दिखाई देता है कि गृहस्थी भले ही विश्वास के कारण निर्भयता वहां अनुभव करते हों लेकिन उनका ये विश्वास क्या सदा ठीक रहता है वो ये मान के चले थे कि बच्चे सेवा करेंगे आदर रखेंगे क्या वो हमेशा वहां होता है नहीं होता और जैसा हम चाहते हैं या व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा तो पूरा पूरा दुर्लभ है कहीं कहीं होता होगा तो गृहस्थियों में जहां ये सूत्र हमें मिलता है कि जहां विश्वास होता है वहां निर्भयता होती है निर्भयता होगी तो दुख से दूर होंगे हम इसके साथ ही वहां यह भी दिखाई देता है कि पूरा विश्वास किसी पे शत प्रतिशत नहीं कर सकते या नहीं हो सकता कुछ दिनों पूर्व एक माता जी का दूरभाष आया जी मेरी एक समस्या है बोले मेरे को डर बहुत लगता है किस बात का डर लगता है कि जब कभी मैं बात करती हूं दूसरों से तो मेरे से बोला नहीं जाता है कहीं कोई थोड़ा विवाद हो मतभेद हो दूसरे कोई अपनी बात रखते हो तो मेरे से बोला नहीं जाता है तो क्यों नहीं बोला जाता है डर लगता है डर के कारण से मैं नहीं बोलती हूं उनका किससे डर लगता है किससे बात करते हैं उनका ऐसे व्यक्ति हो तो उनसे प्रथम उपाय यह है कि आलंबन को ही हटाया जाए हम उनसे संपर्क ही ना रखें ऐसी स्थिति ही ना आने दें बोला नहीं बाहर तो मेरा आना जाना है ही नहीं कहीं तो घर में ही रहती हूं बड़ी अवस्था की है गंभीर रोग लग चुका है टीबी की गांठें हो गई हैं पौत्रादि हैं पौत्रियां हैं तो बोले घर वालों से ही बात होती है और वहीं मुझे बहुत डर लगता है और मैं कुछ भी बोलने से डरती हूं उनको कुछ भी कहने से डरती हूं और इतना नहीं तो कम मात्रा में बहुत घरों में होता है महिलाओं के साथ ही नहीं पुरुष के साथ भी ये होगा बेटे समर्थ हो गए हैं वो अपनी इच्छा अनुसार नियम व्यवस्था करते हैं माता पिता घर में ही हैं तो नहीं अनुकूलता होती है अनेकत्र तो ये दूसरा सूत्र हमें गृहस्थियों से ये भी मिल रहा है ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं अवलोकन से कि जिन पर विश्वास करके वो गृहस्थ में गए थे या भविष्य के लिए जो विश्वास किया था कि ये पुत्र पौत्र पुत्रियां मेरा मेरी देखभाल करेंगे या व्यवस्था होगी सम्मान पूर्वक जीवन रहेगा इच्छा अनुसार मैं अपनी प्रगति कर सकूंगा या कर सकूंगी वो वास्तव में होता नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा तो वहां भी जब विश्वास हट गया तो भय आ गया प्रारंभ हो गया और बहुत से परिवारों में भय में जीते हैं परस्पर एक दूसरे से डर रहता है और दूसरों से ना भी हो तो अपने आप से भी रहता है बीमारी का डर रहता है दुर्घटना का डर रहता है बेटे बेटी अच्छे भी हों खूब सेवा करते हो तो उनको दुर्घटना में कुछ ना हो जाए ये डर रहता है कोई अपहरण ना कर ले इसकी नौकरी ना चली जाए धंधा चौपट ना हो जाए तो फिर समस्या आ गई जिन पर हम निर्भर हैं वो ही बेसहारा हो गए वो ही पराश्रित हो गए तो हमारे लिए तो वो आश्रय नहीं रहेगा तो भय तो वहां पर भी रहेगा इस मार्ग में भी हम अपने पर विश्वास रख करके चलते हैं अपने पर मुख्य आश्रित होकर के चलते हैं लेकिन क्या ये हमारा अपने पे विश्वास पूरा हो सकता है शत प्रतिशत अभी युवा हैं वृद्ध होंगे अभी निरोग हैं आगे रोग आएंगे अभी चलते फिरते हैं कोई दुर्घटना नहीं है सब अनुकूलताएं प्रतीत हो रही हैं तो प्रतिकूलता आ सकती है कभी भी हाथ पैर ही टूट जाए लकवा हो जाए दुर्घटना में कुछ भी हो जाए तब क्या होगा तो जो हमने अपने पर विश्वास रखा था वो भी विश्वास पूरा पूरा तो सदा नहीं हो सकता वर्षों तक चल सकता है हो सकता है आजीवन अच्छा रहे शरीर बुद्धि अच्छी रहे अर्थव्यवस्था ठीक रहे लेकिन फिर भी ये विश्वास सदा नहीं चल सकता शत प्रतिशत इस पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता तो ये वैराग्य का मार्ग फिर निर्भय कैसे होगा अभय कैसे होगा भय तो यहां पर भी है इस मार्ग में भी निर्भयता का मूल कारण वो परमात्मा है बाकी जितने आश्रय हम सोच के चलते हैं उनकी अपनी अपनी सीमा है उतना उतना उनका उपयोग है लेकिन सीमा है जैसे गृहस्थी व्यक्ति अन्य मनुष्यों पर आश्रित रह करके योजनाएं बना लेता है और निर्भय जैसा अनुभव करता है पर परिणाम में पूरी तरह निर्भयता वो भी नहीं प्राप्त कर पाता ऐसे ही इस मार्ग पर ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी भी चीज पर निर्भरता विश्वास किया है तो निर्भयता पूरी पूरी तो नहीं आ सकती किसी को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व है या गर्व शब्द ना भी बोले तो बड़ा विश्वास है अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास है मैं जहां भी जाऊंगा लोगों को ज्ञान दूंगा किसी को अपने परोपकार पर विश्वास है सामंजस्य क्षमता पर विश्वास है मैं कहीं भी जाऊंगा सामंजस्य से रह सकता हूं कुछ ना कुछ परोपकार करूंगा तो मेरे को कहीं बाधा नहीं आएगी और बहुत हद तक ठीक भी रहता है लेकिन फिर भी पूर्ण निर्भयता निर्भरता निर्भयता नहीं आ सकती तो चाहे गृहस्थी हो और चाहे वैराग्य का मार्ग हो इस तरह कोई आया हो अनेक भय तो लगे रहते हैं और जिसने भी ईश्वर का आश्रय नहीं लिया उसको भय तो रहेगा दूसरे सोचेंगे कि ईश्वर का आश्रय लेने पर भी भय कहां चला गया क्या रोग नहीं आएगा ईश्वर पर विश्वास कर लिया ईश्वर को मान लिया ईश्वर है वेदों में शास्त्रों में जो उसके गुण धर्म बताए वो भी मान लिए है ईश्वर ऐसा क्या उससे रोग का भय चला गया क्या जैसे इसमें है वित्ते नृपालात भयम तो चोर का भय और भी किसी भी तरह भय क्या धन कोई छीन नहीं सकता हमारा वैरागियों का या ईश्वर विश्वासियों का कुल की च्युति का भय या अपयश का भय दुर्घटना का भय क्या ईश्वर के विश्वास से ईश्वर को मानने से ये नहीं हो सकते होंगे ही नहीं क्या ये हो सकते हैं किसी के भी साथ हो सकते हैं तो फिर ईश्वर विश्वास निर्भयता के लिए अभय के लिए कारण कैसे बनेगा हम कैसे निर्भय हो सकते हैं हमें जो दुख कष्ट होते हैं एक तो उस समय विद्यमान दुख से होते हैं जो भी विपरीत बात है प्रतिकूलता है साक्षात दुख है रोग आदि एक तो ऐसे दुख होते हैं और दूसरे दुख होते हैं भविष्य के जिसकी चर्चा अभी मैं गृहस्थ और इस मार्ग की दृष्टि से कर रहा था वो सारे भय कैसे हैं दुख कैसे हैं भावी हैं भविष्य में होने वाले हैं ऐसा हो सकता है ऐसा होगा तो क्या होगा ये होगा तो क्या हो जाएगा ऐसी परिस्थिति आई तो फिर क्या करूंगा मैं ये सारे भय कैसे हैं वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा है भविष्य के अनागत है तो हमारे दुखों में जिन जिस जगह में हम जितना भी दुख अनुभव करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा भाग इस भय से उत्पन्न दुख का है भावी दुखों का है भविष्य में ऐसा हुआ तो क्या होगा भविष्य के दुख का है ये जो ईश्वर विश्वासी को रोग आ गया दुर्घटना हो गई ये तो उसके वर्तमान के दुख है कि भाई उपस्थित हो गया ये तो वो दुख तो रहेगा ही स्वरूपता भौतिक रूप से ये दुख तो रहेंगे ही ये किसी के भी साथ आ सकते हैं लेकिन जो भविष्य का भय है भविष्य की परिस्थितियों का भय है वो ईश्वर विश्वास से पूरा या प्राय हटता है तो प्रश्न फिर होगा कि ईश्वर का विश्वास कर लिया तो भविष्य में कोई रोग आए वो भय कहां समाप्त होगा जब ईश्वर के विश्वास से आज भी रोग आ सकता है ईश्वर का विश्वास होते हुए भी आज रोग आ सकता है भविष्य में भी आ सकता है तो भविष्य का भी भय कहां गया ईश्वर के विश्वास के लिए ईश्वर को बहुत जानेंगे समझेंगे मस्तिष्क में पूरी तरह बैठा लेंगे तब जाकर के वो निर्भयता आएगी या आ सकती है तब भी दुर्घटना आदि का होना रोग का आना तो संभव है हो ही सकता है तो ये निर्भयता कैसी ईश्वर के विश्वास से तो ईश्वर का एक गुण है न्यायकारी वो न्याय करता है हमें भय रहता है प्राय अन्याय का दूसरा मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार कर देगा और कर सकता है किसी भी मनुष्य के साथ कर सकता है लेकिन योगी या साधक आध्यात्मिक व्यक्ति और गृहस्थी भी है तो वो भी यदि ईश्वर विश्वासी है तो वो क्या सोचेगा कि दूसरे तो अन्याय कर ही सकते हैं कर लें मैं बचने का प्रयास करूंगा बचूंगा जितना उचित है वो पुरुषार्थ करूंगा लेकिन फिर भी अन्याय कर देता है कर सकता है जैसा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में हो जाता है तो वो अन्याय होने पर भी ईश्वर का एक न्याय और विद्यमान है इतना ईश्वर पर विश्वास हो इसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति परमात्मा अवश्य करेगा ईश्वर की न्यायकारिता के पीछे उसकी सर्वशक्तिमत्ता सर्वज्ञता सर्वव्यापकता आदि गुण भी पृष्ठभूमि में काम करते हैं जो सर्वज्ञ नहीं है वो पूर्ण न्यायकारी नहीं हो सकता जो सर्वशक्तिमान नहीं है वो पूर्ण न्यायकारी न्याय को करवा देने वाला उस वैसा ही करने की सामर्थ्य वाला नहीं हो सकता जो एक देशी है वो भी न्यायकारी नहीं हो सकता क्योंकि एक देशी होगा तो सर्वज्ञ भी नहीं होगा सर्वशक्तिमान भी नहीं होगा तो न्यायकारिता से परमात्मा की न्यायकारिता को विश्वास में लाने से निर्भयता आएगी और उसके पीछे कुछ अन्य ये गुण भी काम करते हैं क्यों निर्भयता आएगी कोई कुछ भी कर ले मेरे साथ में कितना भी अन्याय पक्षपात कर ले तो भी जितना मैंने पुण्य किया है जितना श्रेय या फल मुझे मिलना है वो मुझे अवश्य मिलेगा आज मिले या कल मिले यदि देर से मिलेगा तो ब्याज सहित मिलेगा वहां भी कोई घाटा नहीं है नहीं तो व्यक्ति को यही संदेह होने लगता है यही भय आने लगता है कि आज नहीं मिलेगा फिर अगले जन्मों में पता नहीं कब मिलेगा तो फिर क्या हुआ आज तो दुखी हो रहा हूं मैं तो ईश्वर विश्वासी ये जानता है कि ईश्वर का न्याय पूर्ण तब होता है यदि वो फल विलंब से मिला अभी नहीं मिल पाया तो उसकी पूर्ति सहित मिलता है तो मैंने कुछ भी किया है उसका फल मुझे अवश्य मिल जाएगा और ठीक ठीक पूरा पूरा मिलेगा मेरा पुण्य कहीं नहीं गया और मेरी जो दूसरों ने हानि कर दी अन्याय कर दिया उसकी पूर्ति भी अवश्य होगी अब जब हमारे मन में ये बात बैठ गई तब किस बात का भय है ये परमात्मा के प्रति विश्वास हो गया परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास बन गया परमात्मा ऐसा ही है शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से चिंतन निधिध्यासन करके नहीं ईश्वर तो ऐसा ही है अब ये विश्वास बन गया अब किस बात का भय होगा अनागत भय को दूर कर तो हम कर चुके इससे कुछ भी हो अंततः तो मेरा ठीक ही होने वाला है मेरे पाप कर्मों का भी फल मिलेगा तो जितने पाप हैं उतना ही उचित फल मिलेगा अधिक नहीं मिलेगा अधिक दंड नहीं मिलेगा और वो दंड भी मेरे सुधार के लिए मेरे हित के लिए है तो वहां भी भय नहीं देखेगा वो इसलिए महर्षि दयानंद ने उपासना का फल बताया पहाड़ जैसे दुख यानी बहुत बड़े दुख के से भी वो घबराता नहीं है डरता नहीं है जो भी दुख आ जाए कोई भी स्थिति आए मेरी हानि नहीं हो सकती परमात्मा के रहते अग्नि सख्ये मां ऋषामा वयम तव परमात्मा के सख्य में परमात्मा की मित्रता में अब हमें कोई दुख या भय नहीं हो सकता जो दोष हम गृहस्थ में देख रहे थे अपने पुत्र पुत्रियों में कि वो शायद परिपालन ना करें उपेक्षा कर दें देखभाल ना करें ये आशंका परमात्मा के अंदर नहीं है वहां जो विश्वास है वो शत प्रतिशत पूर्ण होता है हमारा विश्वास न हो तो भी पूर्ण होता है जो परमात्मा पे विश्वास नहीं करते उनके प्रति भी परमात्मा का न्याय काम करता है वो न्यायकारी तो फिर भी है उनके प्रति भी है लेकिन जो विश्वास नहीं करता ईश्वर का न्याय विद्यमान रहते हुए भी वो भयभीत रहेगा क्योंकि उसे विश्वास नहीं है उसे हानि दिखाई दे रही है वर्तमान की या भविष्य की लेकिन जिसने ईश्वर पर विश्वास कर लिया तो उसकी निर्भयता में कोई कमी नहीं आ सकती वो निर्भय ही रहेगा और जितनी जितनी निर्भयता में न्यूनता है वो भय से युक्त है उतना उतना ईश्वर विश्वास उसका कम है ये निश्चित है तो यहां जो भर्तृहरि जी ने लिखा वैराग्यम एव अभयम सब वस्तुएं भयान्वित हैं ये भय केवल गृहस्थियों के लिए ही नहीं है इस मार्ग पर चलने वाले के लिए भी इन वस्तुओं का सबका भय यथावत है इन श्लोकों को पढ़ के व्यक्ति वैराग्य के मार्ग को अपना के क्या सोच ले कि नहीं ये मार्ग तो निर्भय है वो मार्ग भय से युक्त है नहीं वो सारे भय यहां भी हैं वो वस्तुएं यहां भी हैं वो परिस्थितियां यहां भी हैं भिन्न रूप से हैं इस मार्ग की निर्भयता तो परमात्मा को मानने स्वीकारने पर ही आ सकती है और कोई उपाय नहीं है पूरी तरह निर्भयता के लिए इसलिए इस मार्ग पर चलने वाले को ईश्वर विश्वास पैदा करने के लिए जितना प्रयास कर सके करना चाहिए वो शास्त्र पढ़ करके हो वो नितिध्यासन से हो वो उपासना के काल में हो कैसे भी हो ज्ञान में ये बैठना आवश्यक है कि परमात्मा न्यायकारी है और सत्यात प्रकाश में महर्षि ने लिखा भी है इस बात को और गुणों की अपेक्षा न्यायकारी को विशेष महत्व दिया जब जप करते हैं विभिन्न गुणधर्मों को बोलते हैं स्तुति करते हैं कहा यदि विधिवत करें तो एक गुण भी परमात्मा का एक गुण भी पार कर देगा हमारे को मुक्ति तक पहुंचा देगा और उस एक गुण में महर्षि ने नाम लिया न्यायकारी का यद्यपि अन्य गुण भी महत्वपूर्ण है और उनसे भी दूर तक जा सकता है आदमी लेकिन न्यायकारिता का गुण एक विशेष महत्व रखता है हमें विश्वास हो गया कि ये न्यायकारी है अब क्या भय है हमें विश्वास हो गया ये पुलिस वाला ये पुलिस चौकी ये न्यायाधीश ये न्यायालय ये राजा न्यायकारी है उसी समय भय समाप्त समर्थ हैं ये बचा सकते हैं मेरे को मेरी व्यवस्था कर सकते हैं भय समाप्त ऐसे ही परमात्मा पर जब विश्वास आ जाता है तो एक तो भविष्य के दुख तो समाप्त हो जाते हैं जिसको योग दर्शन करने का हेयम दुखम अनागतम जो अनागत है वही तो हे कोटि में है जो भोगा जा चुका है वो तो भोगा जा चुका है और जो वर्तमान में है वो तो रूढ़ है वो तो भोगा ही जा रहा है दुख हटाने होंगे तो भविष्य के हटाने होंगे और भविष्य के जो हटाने होंगे उनमें से बहुत बड़ा भाग इस भय के कारण से है अविश्वास के कारण से है और वो आश्रय हमने परमात्मा का ले लिया तो फिर ये मार्ग निर्भय है अभय है और इसको छोड़ करके दूसरों चीजों का सहारा लेते रहे आश्रम का व्यक्ति का ब्रह्मचर्य का शरीर का ज्ञान का बुद्धि का शास्त्रों का सब जगह बह रहेगा कम या अधिक तो प्रतियोगिता में यदि कम स्थान मिला तो अन्याय प्रतीत हुआ दुख हुआ दूसरों का अन्याय हम हटा भी नहीं सकते व्यवस्था ऐसी है वो अधिकारी हैं शासकीय दृष्टि से उनको अधिकार प्राप्त है हम कुछ कर नहीं सकते और करेंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उनके विपरीत कुछ ऊपर के अधिकारी को कहेंगे यहां जाएंगे वहां जाएंगे न्यायालय में जाएंगे इतना समय धन श्रम लगेगा तो उससे सोचता है व्यक्ति ये तो कष्ट थोड़ा ही है कोई बात नहीं चलो लेकिन मन में तो ये रहता है दुख रहता है इस दुख की निवृत्ति कैसे हो ये तो मन में सोच लिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं लेकिन कोई बात क्यों नहीं फर्क तो पड़ रहा है दूसरा तो यश ले गया उसको तो प्रथम स्थान प्राप्त हो गया उसको तो उसके गुरुकुल को उसकी संस्था को तो यश मिल गया और हमारे को नहीं मिला तो या तो हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक है हमारी योग्यता हमारे पास में है उनको प्रथम स्थान भी मिल गया तो योग्यता थोड़ा है उनकी भविष्य में क्या होगा ठीक है वो भी है लेकिन यदि इन परिस्थितियों में जहां हम कुछ नहीं कर सकते वहां भी परमात्मा का सहारा ले लिया कोई बात नहीं जो दूसरा तीसरा स्थान या कोई स्थान नहीं भी मिला है तो इससे जो मेरी हानि हुई है इसकी पूर्ति परमात्मा की तरफ से अच्छी तरह हो जाएगी बाद में हो जाएगी तो फिर जब अन्याय ही प्रतीत नहीं होगा यानी अंततः अन्याय नहीं प्रतीत होगा तो भय का कोई अवकाश ही नहीं है दुख का कोई अवकाश नहीं है खेत या ग्लानी के लिए कोई अवकाश नहीं होना चाहिए और यदि आ जाता है तो हम इन्हीं तरह के प्रयासों से इस तरह का चिंतन बना के उसको हटा सकते और जिसने अयोग्य होते हुए भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया या उनके व्यक्तियों ने उनको उस उच्च स्थान दे दिया तो उससे क्या लाभ मिल गया उनको अगर अभी का देखेंगे तो कुछ यश आदि मिल गया कोई नौकरी मिल गई इत्यादि बाकी तो कोई लाभ नहीं मिला उनको उस अन्याय का दंड मिलेगा उनकी वो हानि भी होने वाली है जो हानि हमेरी नहीं है और मेरी पूर्ति होगी तो इस तरह का चिंतन रखते हुए हम परमात्मा पर विश्वास रखते हुए भय से शंका से दुख से हट सकते हैं और ये रास्ता तभी निर्भय हो सकता है और न मात्र इस ये वाले गृहस्थी भी पूर्ण निर्भय अभय तभी हो सकते हैं जब परमात्मा का सहारा ले लें और कोई भी सहारा अभय युक्त नहीं ठीक है तो ये विषय तो इतना रखता हूं और जो मैंने बोला उसमें किसी को प्रश्न उठता हो कोई बात विपरीत लगी हो बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं बोलिए हो सकता है गृहस्थी को भी ये विश्वास ईश्वर का हो तो वो भी निर्भय हो सकता है मैंने दो तीन बार संकेत भी किया हो सकता है इसलिए मैंने ऐसा भेद नहीं किया कि ये निर्भयता केवल इसी मार्ग में आ सकती है और वस्तुतः भर्तृहरि ने भी जो कहा कि वैराग्य में वा भयम उसका ये मतलब नहीं है कि गृहस्थी वाले भय हैं और बाहर वाले जो हैं वो अभय हैं निर्भय हैं ये तो हमने समझ लिया है कि जो गृहस्थी में नहीं गया वो वैराग्य के मार्ग पर है ये कोई कसौटी ही नहीं है वैराग्य की जो गृहस्थ में नहीं गए वो गृहस्थियों से ज्यादा फंसे हुए दिखते हैं दिख सकते हैं बहुत लोग मिलेंगे और अच्छे अच्छे साधु संतों से भी बड़े वैराग्य वाले विवेक वाले गृहस्थी मिलते हैं उनसे अधिक संयम वाले मिलते हैं मिल सकते हैं तो मैंने उस दृष्टि से प्रतिपादन नहीं किया लेकिन प्राय हम ऐसा समझते हैं मुख्य बात ईश्वर विश्वास है जहां भी वो हो और गृहस्थ से भी तो वैराग्य होगा वैराग्य होके वो वानपस्थी बनेगा संन्यास को प्राप्त होगा ठीक है और कोई पूछिए अच्छा बात चले विश्वास को लेकर अब ईश्वर के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो कर्म फल करना ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो निर्भयता नहीं आएगी अभय नहीं होगा यही तो कथन है ईश्वर को छोड़ करके कोई स्थिति बता दीजिए आप जहां वो व्यक्ति कह सके कि मैं बिल्कुल अभय हूं विपरीत तो कुछ होने की कोई आशंका नहीं है कितना ही अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो कोई धर्मात्मा हो साधु संत हो हम पूरा विश्वास करते हैं उसमें किसी पे भी मां पे अपने बच्चों पे अपने पिता पे जिसके साथ वर्षों रहे हैं वो उनके साथ भी क्या आप पूरी तरह कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें पूरी तरह निर्भय कर सके और भय है तो दुख रहेगा भय तो दुख का ही नाम है एक तरह से लेकिन ईश्वर का विश्वास बनना ये इतना आसान भी नहीं है जिसने मुख्य बिंदु समझ लिया उसको तो हो जाएगा ईश्वर न्यायकारी है यही समझना ये पूरा विश्वास बना लेना प्रयत्न साध्य है जो इस दिशा में लगा है जिसने ये सूत्र पकड़ लिया है कि ईश्वर पर विश्वास पूरा आ गया तो मैं निर्भय हो जाऊंगा तो ईश्वर विश्वास बनाने के लिए प्रयत्न करेगा जिसने अन्य वस्तुओं में व्यक्ति में अभय को देखा वो उनको अपनाने का या लेने का उनको अपनाने का प्रयास करेगा मित्रों का है तो वो मित्र बनाने में लगेगा क्यों मित्र बना लेते हैं कहते हैं भाई समय पे काम आएंगे वो बीमार होते हैं तो हम उनकी देखभाल के लिए जाते हैं कि कभी मैं पढ़ूंगा तो वो भी आएंगे अनुचित नहीं है इसमें ये कोई स्वार्थ वैसा निंदित स्वार्थ नहीं है ऐसा सोचा जा सकता है उचित है कुछ ना कुछ उपाय तो करेगा ना व्यक्ति घर बनाएगा गाड़ियां बनाएगा सुरक्षाकर्मी रखेगा औषधियां रखेगा अन्न संग्रह रखेगा बैंक बैलेंस रखेगा कुछ तो करेगा वो जिसमें वो अभय देखता है उसको अपनाने के लिए बढ़ाने के लिए संरक्षण के लिए प्रयास अवश्य करेगा सब ऐसा ही कर रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो इससे इसके अनुसार नहीं चल रहा है अपने अपने ज्ञान सामर्थ्य के अनुसार इन्हीं चीजों को तो हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं जिससे हमारी निर्भयता बढ़े दुख कष्ट कम आए इसके लिए सब लगे हुए हैं तो जो व्यक्ति ये समझता है कि इन वस्तुओं और व्यक्तियों से मुझको निर्भयता आएगी वो उसी तरफ लगा हुआ है और जिसे ये भी पता है कि इनके साथ जितना हो सकता है ठीक है बाकी परमात्मा पर विश्वास ही मुझे पूर्ण निर्भय कर सकता है वो परमात्मा का विश्वास पैदा करने के लिए उसी तरह प्रयत्न करेगा जैसे कोई धन के लिए करता है मित्रों के लिए करता है रिश्तेदारी बनाए रखने के लिए करता है संबंध बनाने के लिए निर्वाह के लिए बहुत सारे कार्य करता है कष्ट सहन करता है ऐसे ही ईश्वर विश्वास के लिए करेगा और ईश्वर विश्वास के उपाय आप सब जानते ही हैं करते ही रहते हैं शास्त्र बड़े कारण है उस पर चिंतन मनन है लोगों के जीवन को देखना है और देखना है निधिध्यासन करना है यही उपाय है इनको जो जितना करता चलता है साथ में वो तो ये कह सकता है वैराग्य में वाह भयम नहीं तो नहीं कह सकता नहीं तो भय रहेगा हाँ अगर सोचा जाएगा ईश्वर तो साक्षात आकर क्षतिपूर्ति करते हुए तो नहीं दिखता है नहीं प्रतीत होता है प्रारंभिक स्तर नहीं होता तो केवल ये प्रतीत होता है कि केवल हमारे संतुष्टिकरण मात्र है आत्मसंतुष्टिकरण अगर यदि एक पक्ष ये बहुत बड़ा कारण है इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है कि ईश्वर सीधे सीधे आके तो देता नहीं है इसलिए वैसे प्रत्यक्ष गम्य नहीं है उस तरह से जैसे मनुष्यों का होता है इसलिए सब लोग मनुष्यों पर ही विश्वास करते हैं मनुष्यों के आधार पर ही निर्भयता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है लेकिन परोक्ष का तो नहीं देख पाते तो देवता तो वही होता है जो परोक्ष प्रिय होता है सुनो प्रत्यक्ष से द्वेष करता है वो द्वेष मतलब प्रत्यक्ष का जितना है उतना ही मानता है अब ईश्वर पे विश्वास लाने के लिए शास्त्र पे विश्वास बहुत आवश्यक है कि वेद में ऐसा लिखा है वेद में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा इससे उपाय हो सकता है लेकिन वेद पे विश्वास कैसे है ये फिर अपने आप में प्रश्न है कैसे हम इन वेद मंत्रों पे इतना विश्वास कर लें उसके लिए वेद का अध्ययन यहां जो बातें लिखी हैं इतनी सारी बातें ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है तो ये भी ठीक होगी आपको अनुमान करना ही होगा अनुमान का प्रयोग करना ही होगा वो भी एक प्रमाण है तो केवल प्रत्यक्ष के आधार पे आप चलोगे तो या प्रत्यक्ष के आधार पे तो बेटे बेटियों पे भी विश्वास नहीं कर सकते आपका प्रत्यक्ष से ही खंडन होगा आप धन के आधार पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते प्रत्यक्ष से ही आपका खंडन होगा पैसे वाले भी भयभीत होते हैं और दुखी होते हैं आपको अपने शरीर पे विश्वास है शरीर वाले भी कितने सुंदर या स्वस्थ हों वो क्या क्या हो जाते हैं आप प्रत्यक्ष पे देखोगे तो प्रत्यक्ष में दूसरों में कहा है आप परमात्मा को छोड़ करके और दूसरी जगह भी आप प्रत्यक्ष को घटाओगे तो कहां घट रहा है एक पक्ष देखा कि हां प्रत्यक्षता इनसे हमारे को लाभ होता है एक अंश देखा है दूसरा अंश नहीं देखा कि इनसे लाभ नहीं होता उल्टा हानियां भी होती हैं इनसे उसको तो देख नहीं रहे और उधर परमात्मा की तरफ से जो व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं जो कि मनुष्यकृत नहीं है या आप इतनी प्रसन्नता से बैठे हो अभी इस सब्जेक्ट में प्रसन्नता से बैठे हैं बोल रहे हैं विचारों का आदान प्रदान हो रहा है मिल रहे हैं ये परमात्मा की व्यवस्था के बिना और कौन कर रहा है आंखें देख रही हैं देखो इतनी अच्छी तरह से कान सुन रहे हैं इतनी अच्छी तरह से खाना खा करके आ गए और वो पच रहा है अंदर इतनी अच्छी तरह से ये कौन कर रहा है अब इनको तो हम देख नहीं रहे हम क्या देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगा परमात्मा तो नहीं पहुंचाएगा रोटी नहीं है तो परमात्मा तो लाके नहीं देगा या बना के नहीं देगा ये हमारी दृष्टि की एकांगिता है एक तो एक ही अंश देख रहे हैं इधर परमात्मा के पक्ष में तो हम नकारात्मक देख रहे हैं केवल सकारात्मक को तो हटा ही दिया और इधर लोगों और मनुष्यों के द्वारा जो हमारे को निर्भयता आती है वहां हम सकारात्मकता देख रहे हैं नकारात्मकता का देख ही नहीं रहे तो हमारी दृष्टि तो वही बनेगी अगर ऐसा देख रहे हैं तो आपको देखना है तो दोनों ढंग से देखिए पूरी तरह से पूरी तरह से देखेंगे तो ये पता लगेगा जिन जिन को हम आश्रय मान रहे हैं वो पूरे आश्रय नहीं है कोई भी बोले नहीं मैं इस पे विश्वास करता हूं बेटे पे बेटी पे पति पे पत्नी पे उससे उसी समय आसपास की दो चार घटनाएं बता दो संदेश शुरू हो जाएगा आप एक भी चीज बता दो जहां पूरा निर्भय हो नहीं हो सकता प्रत्यक्ष से ही खंडित होता है और प्रत्यक्षतः कोई पुत्र पुत्री सेवा अच्छी कर रहे हैं कोई पुत्र पुत्री सेवा अच्छी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा क्या होगा विप्रतिपत्ति हुई ना उससे संदेह पैदा होगा या नहीं होगा निश्चय कहां रहा विश्वास कहां रहा ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है संदेह का आधार ही है संदेह ऐसे ही पैदा होता है कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है निश्चितता नहीं है अविश्वास होगा मेरा बेटा भी ऐसा करेगा ही सेवा करेगा ही हो सकती है बहुत से माता पिता में विश्वास सौ प्रतिशत से ज्यादा भी इतना और सही भी हो सकता है लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं कह सकते तो अगर दोनों की तुलना करेंगे तो परमात्मा पे ही अधिक विश्वास आता है दूसरों पे तो विश्वास नहीं आ सकता अगर ऐसा देखेंगे हम तो विश्वास बनता है ठीक है संतोष जी जिस वैराग्य से भय हो उसे हम वैराग्य भी नहीं कहे बिल्कुल ठीक है लेकिन हम जिसे वैराग्य कहते हैं वे ऐसे कपड़े पहन लिए सिर मुंडा लिया खड़ाऊ पहन ली इत्यादि इत्यादि जो हम हैं भी घर छोड़ दिया सादा खाना खा रहे हैं सुबह चार बजे उठ रहे हैं ऐसे दिनचर्या कर रहे हैं यज्ञ व्यायाम ध्यान इत्यादि सामान्य व्यक्ति जैसा सुख सुविधाओं में रहता है भोग करता है उससे अलग दिख रहा है जीवन को त्याग तपस्या का दिख रहा है इतना एक अंश में तो वैराग्य है ही लेकिन इसी को अगर कोई पूर्ण वैराग्य मान ले तो वास्तव में वो वैराग्य है ही नहीं वास्तव में पूर्ण वैराग्य है ही नहीं हाँ बहुत आंशिक है इसके ऊपर अपर वैराग्य बहुत ऊंचा इससे उससे भी और ऊंचा पर वैराग्य वो पर वैराग्य बिना ईश्वर विश्वास के हो नहीं सकता गुण वैतृष्ण्य बिना परमात्मा के विश्वास के हो नहीं सकता छोड़ नहीं सकता व्यक्ति उसको सात्विक सुख को छोड़ नहीं सकता जब तक परमात्मा का विश्वास न हो और सुख उधर ना मिले तो छूटता ही तब है उस विश्वास पे ही छूटता है तो वो कथन ठीक है कि वास्तव में ये वैराग्य है ही नहीं तो जहां जहां भय है वहां वो पूर्ण वैराग्य नहीं है ये मानना ही होगा और मोटे तौर पे हम उसको वैराग्य कहते हैं और उतने कुछ अंशों में वो निर्भयता को प्राप्त भी करते हैं हम्म। हम्म। जैसे आपने कहा कि हमें अन्याय से भय होता है तो क्या न्याय से हमें भय नहीं होता जिनको होता है होता है और हमारे धर्म के क्षेत्र में बहुत कहा जाता है बुरे काम करोगे तो ये ये दंड परमात्मा देगा परमात्मा से भय खाओ डरो और उससे उसको पुण्य कर्म की तरफ प्रेरित भी करते हैं एक अंश तक ठीक है लेकिन वास्तव में न्याय में कोई भय नहीं होता है नहीं होना चाहिए बीच में एक वाक्य मैंने उस तरह का बोला भी था कि जो मेरे को अपने पाप कर्म का दंड मिलेगा वो भी ठीक ठीक मिलेगा और वो मेरे सुधार के लिए है मेरे हित के लिए है मेरी प्रगति उन्नति के लिए आवश्यक है वो भी अगर ये दृष्टि है तो न्याय में कभी भी भय नहीं होगा मूल तथ्य यह है कि न्याय में कभी भय नहीं होगा और जहां जहां भय होगा वहां अन्याय में होगा अगर विद्या युक्त है व्यक्ति तो जो अविद्या से युक्त है वो न्याय में भी भय देखेगा विद्यार्थी ने दोष किया अब साथी अध्यापक को बता देता है तो उसको लगता है दंड मिलेगा मेरे को भले ही न्यायपूर्वक मिलेगा लेकिन वो अभी के ही कष्ट को देख रहा है डांट को देख रहा है पिटाई को देख रहा है तो उसे भय लगेगा लेकिन ये उसकी अविद्या है मैंने पाठ याद नहीं किया डांट पड़ेगी अब उसको भय लग रहा है ये उसकी अविद्या है दूसरा व्यक्ति सोचता है दूसरा विद्यार्थी सोचता है कि वो डांटेंगे तो अच्छा है सबके सामने मेरे को डांट होगी मैं आगे से पढ़ूंगा मेरी उन्नति होगी मेरे को दंड मिलेगा मैं दोषों से बचूंगा तो इसमें क्या डरना अच्छी बात है तो यदि कोई न्याय में भय देख रहा है तो ये उसकी अविद्या काम कर रही है और यदि कोई अन्याय में निर्भयता देख रहा है ये उसकी अविद्या है अन्याय में भी तो निर्भयता देखते हैं कि मैं पैसे दूंगा और दंड से बच जाऊंगा रिश्वत दे बच जाऊंगा तो उस अन्याय में पहले भी दोष किया वो अन्याय किया अब अन्याय करके रिश्वत दे करके दोष से दंड से बच रहा है ये फिर अन्याय कर रहा है लेकिन क्या देख रहा है उसमें निर्भयता देख रहा है वो अन्याय में भी तो अविद्या युक्त होने पे तो उल्टा दिखाई देगा ही लेकिन वास्तव में विद्या युक्त होंगे तो न्याय में कभी भय नहीं होगा और अन्याय में सदा भय रहेगा और ये बात सामान्य व्यवहार से भी हम हमें पुष्ट है कि जब जब न्याय की स्थिति हमें दिखाई देगी यानी यहां अब मेरा बिल्कुल न्याय होगा मनुष्यों के संदर्भ में भी व्यक्ति का भय चला जाएगा यहां ये मेरे से अन्याय कर सकता है भय प्रारंभ हो जाएगा दुख प्रारंभ हो जाएगा इससे हमें पता लगता है और इसके विपरीत जहां जहां दिखाई देता है वो अविद्याजन्य है ठीक है कौन है कुछ है है अशुद्ध वैराग्य का हाँ मलिन वैराग्य का मतलब उसमें राग को भी वैराग्य समझ लेना कुछ कुछ चीजों में राग है लेकिन ये समझ लेना कि वैराग्य है वो अशुद्ध है जितनी जितनी न्यूनता है वो अशुद्धता है उसकी अपूर्णता है और विपरीत समझ लेना वो अशुद्धता है नुकसान उससे यही होगा जो मिथ्या जन्म से होता है कि वो सोच तो रहा है कि ये वैराग्य है और वैराग्य है नहीं तो दुख रहेगा उसको वो कहता रहेगा कि वैराग्य है लेकिन दुखी रहेगा और दूसरे भी देखेंगे कि वैराग्य एक तो कह रहा है लेकिन दुखी तो है ये या दूसरे उस वैराग्य से को पाना भी नहीं चाहेंगे प्रेरित भी नहीं होंगे भाई ये इस वैराग्य में भी तो दुखी है तो फिर मैं क्यों जाऊं बहुत हानि होगी समाज की भी हानि होगी अपनी भी हानि होगी भ्रांति में रहेगा मृग तृष्णा में सोचता रहेगा कि मेरे को जल मिल गया है जल तो नहीं मिलेगा हाँ आप पूछिए ईश्वर तो पर विश्वास होने से और सामाजिक परिस्थिति में अविश्वास होने से ईश्वर पर विश्वास होने पर तो कोई दोष नहीं आएगा यदि द्वेष बिल्कुल होगा उससे कैसे निवृत्ति होगी ईश्वर पर विश्वास होने से इन द्वेष और भय की निवृत्ति कैसे होगी ईश्वर पर विश्वास जो रखेगा वो द्वेष ही नहीं करेगा ठीक अर्थों में ईश्वर पर विश्वास करता है तो वो तो द्वेष करेगा ही नहीं क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर न्यायकारी है और मैं द्वेष करूंगा तो मेरी हानि होगी मेरे पे संस्कार पड़ेंगे और मेरी प्रगति नहीं होगी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी वो द्वेष नहीं करेगा और यदि हमारे प्रति कोई द्वेष कर रहा है और हमें ईश्वर विश्वास है उसके द्वेष से जो हमें हानि हो रही है तो हमें पता है इसकी पूर्ति होनी है क्षतिपूर्ति होनी है कर्म करने में ये स्वतंत्र है और जन सामान्य के प्रति जो अविश्वास की बात है वहां मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि उन पर बिल्कुल ही अविश्वास किया जाए वो फिर एक अविद्या हो जाएगी इन पर जितनी निर्भरता होनी चाहिए जितना विश्वास होना चाहिए उतना तो हम करें तो करना भी आवश्यक है उससे ही हमारा जीवन चलता है दोष कहाँ आता है जहां वो पूरे निर्भय नहीं कर सकते लेकिन हम उसे समझ लेते हैं पूरी निर्भयता करने वाले हैं यानी अवित्या वहां भी काम कर रही है जितना जितना उनसे लाभ होता है जितना हम उनको लाभ दे सकते हैं निर्भयता होती है उतना तो मानना ही चाहिए दोष वहां है जब हम उसी को ही पूरा मान लेते हैं और जो पूर्ण विश्वास है ईश्वर का उसको छोड़ देते हैं आपके प्रश्नों को पूरी तरह कर पाया है हाँ। नहीं करने वाला है उसके सामने आती है हमारे मन में प्रतिक्रिया होती है भय उत्पन्न होता है हम्म। तो विचार से तो हम दूर में जो आने वाला दुख है उसकी क्षतिपूर्ति होगी ऐसा सोचकर उसको ठीक कर लेंगे हम्म। लेकिन जो तात्कालिक भय उत्पन्न हुआ हम्म। उसकी निवृत्ति कैसे होगी ईश्वर विश्वास जी यहां भी अगर केवल ईश्वर विश्वास पे चलना है तो यहां भी वही नियम काम करेगा सामने कोई अन्याय अत्याचारी आ गया तो वो भी तो जो कुछ भी हमारे साथ करेगा वो भविष्य में ही करेगा उसके लिए भी हम वैसा ही सोचेंगे लेकिन यहां ईश्वर विश्वास का मात्र ये भी अर्थ नहीं है कि केवल ईश्वर पे छोड़ दिया है हमने हमें वर्तमान का प्रयत्न पुरुषार्थ तो पूरा करना है उसके अन्याय अत्याचार से रोकना उसको रोकना विरोध करना प्रतिशोध करना जो भी हम कर सकते हैं अन्यों को बुलाना वो सब हमें करना ही है उसे समझाना किसी भी तरह से जो हमारा प्रयत्न होना चाहिए वो पूरा तो हमारे को करना ही है केवल ईश्वर विश्वास से नहीं होगा लेकिन उसको करते हुए भी दूसरा अन्याय कर देता है या कम ज्यादा होता है तो भी हमारी पूर्ति होगी और अन्याय का प्रतिरोध करते हुए जो हमारी शक्ति खर्च हो गई समय खर्च हो गया धन खर्च हो गया उसकी भी पूर्ति होगी क्योंकि वो भी हमारे पास हमारे प्रति अन्याय किया गया यदि भी हम बच गए उससे पुरुषार्थ से लेकिन हमारा समय शक्ति तो लग गया वहां पर ये उसके अन्याय के कारण से ऐसा हुआ है ये खर्चा अतिरिक्त हो गया हमारा उसकी भी पूर्ति होगी तो भविष्य में होगा उसका भी और वर्तमान में जो हो रहा है उसका भी लेकिन जो सीधा सीधा कष्ट आ गया है हाथ तोड़ दिया है तो हड्डी टूट गई है तो वो जो परेशानी हो रही है वो तो हो ही नहीं उतना बाधा तो होगी हम खाना पीना नहीं कर सकेंगे हाथ टूट चुका है ये बाधाएं तो होंगी लेकिन साथ में क्या जुड़ा हुआ है कि ये जो बाधा कष्ट हो रही है दूसरे के अन्याय के कारण से हुई है इसकी पूर्ति परमात्मा करेगा बीमे की तरह से इसकी पूर्ति कर देगा तो अब वैसा दुख नहीं होगा अतिरिक्त जो भावना के कारण से आशंका के कारण से भय होता है कल्पित भय होता है कल्पित दुख होता है वो नहीं होगा जो स्थूलता से हो रहा है उतना तक तो होना ही है उससे कोई नहीं बच सकता ईश्वर विश्वास से ही भय तो नहीं होगा लेकिन जो पीड़ा हो रही है वो तो होनी है जो होनी है निर्भयता हो सकती है कि वो गोली चलाने वाला भी सामने खड़ा है और गोली चला रहा है तो भी वो निर्भय है वो ईश्वर विश्वास से ही आ सकती है पूरी तरह से हर परिस्थिति में हर स्थान पर परमात्मा के विश्वास से ही हो सकती वैसे नहीं हो सकती वैसे होगी तो आंशिक होगी ठीक है इतना रखते हैं बहुत समय भी हो गया तो रात्रिकालीन मंत्र पाठ करेंगे यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमम् ज्योतिषाम् ज्योतिरेकम् तन्मे ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यच्चे कृण्वन्ति विदथे शुधीराः पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां मन शिवसङ्कल्पमस्तु यज्ञानमुपचेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरम् ऋतम् प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदम् भूतम् भुवनम भविष्य परिगृहीतममृतेन सर्व येन यज्ञस्तायते सप्तहोता ते मन शिव यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्मिश्चित्तम् सर्वमोतम् प्रजानाम् तन्मे शिवसङ्कल्पमस्तु सुशारथिरश्वानि भजन्मनुष्यान्नेयत् इव विप्रतिष्ठं यदधिरं जरिष्ठं तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु